सत्यम भविष्यामि तन्मा भवतु तद्वत्कारणवतु अवतु माम् ऋग्वेदीय ऐत्रोपनिषद अध्याय के प्रथम खंड के द्वितीय मंत्र के ऊपर कुछ विचार आरंभ हुआ जिसमें प्रथम मंत्र में कहा था वो परमात्मा ने परमात्मा ही था जगत के पूर्व अवस्था में परमात्मा से अतिरिक्त तो वस्तु कुछ भी नहीं था आत्मा वही गम एक एव अग्रे आश्रित नान्य किंचन निषत स ईक्षत ऐसा मुझे अभी जो नाम रूपात्मक जगत जो दिख रहा है भाष रहा है इस सृष्टि के पूर्व काल में ये अपने रूप में नहीं था वो आत्मरूपी था एक ही था आत्मा ही था सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित आत्मा ही था उस काल में दूसरा वस्तु कुछ भी नहीं था तो उस आत्मा ने प्राणियों के कर्मों के फलस्वरूप सृष्टि करने की इच्छा की तो ऐसा कहा पूर्व मंत्र ने ऐसा कहा था इसमें कहा स ईमान लोकान का बोला उस आत्मा ने इन लोगों की सृष्टि की विक्षण पूर्वक सृष्टि की कौन है वो लोग को तो चार भाग में बंटवारा किया अम्बस मरीची मरम आपा चार भाग है लोगों का माने इसमें जो चौदह भवन है जो पुराणों में चौदह भवन चर्चा दी गई है पूरे के पूरे चार में है अम्बस शब्द का अर्थ है द्यूलोक से ऊपर द्यूलोक सहित ऊपर पांच लोग आ जाते हैं द्यू बहुत ज्यादा तपस्या और मरीची शब्द का अर्थ अंतरिक्ष है और मरा माने पृथ्वी और आप अगर अर्थ इसके नीचे के लोग जो अतला पितला सुतला तला तला तला महातला पाता चौदह गुणा इस दृष्टि की उपाय तो उसमें ये अंबस मरिजी मरम आप आप आदि की स्वयं श्रुति अर्थ करते हैं अधो अंबा कहा वह अंबा है अम्बलोक वह है कौन है परेण दिगम परस्ता दिवम जो दिवलोक से परे है ये दिवम जो दिखा है ये पंचमी की जगह पर द्वितीय विभूति आ रही है और परे ना कोई तृतीयांक नहीं है ये न प्रत्यांक है ये न लगा अव्यय है पर दिवलोक से पर जो है ऐसा देव देव प्रतिष्ठा जिन लोगों की प्रतिष्ठा आश्रय दिवलोक है और अंतरिक्षम परिचय कहा था जो मरीची शब्द का था अंतरिक्ष लोक है पृथ्वी को मर कहा और या आधा पृथ्वी से जो नीचे हैं ता वो लोग आप कहा उनको आप बोल दिया उन लोगों को ये कहा इसी की भाष्य टीका चलनी है <clears throat> टीका में कहा एक क्षण पूर्वकालीन तुम बदम सृष्टि हेतु क्षण पूर्वकाल मतलब विचार पहले करता है व्यक्ति किसी कार्य को करने के पहले विचार पहले उसका नक्शा बनाता है विचार ईक्षण पूर्वकालीन तो वरण पहले पूर्व काल में ईक्षण का बोलते हुए सृष्टि हेतु तो कहा उस सृष्टि का कारण ईक्षण ईक्षण किया उस बात सृष्टि के बताते भाषण का एवं इक्षित आलोच्य इस प्रकार से परमात्मा इच्छा का पद है इस प्रकार विचार करके स आत्मा वह आत्मा स मन आत्मा इमान लोकान असृजता मनस्तृष्टवान होता कैसे सृष्टि किया था कहते यथा यह बुद्धिमान तक्ष आदि जैसे यहां पर ये कारपेंटर आदि जो होते हैं बुद्धिमान जो होते हैं इस प्रकार के सामग्री से इस प्रकार के वस्तु हैं ऐसा पहले सोचता है यथा यह श्लोक में जैसे बुद्धिमान तक्ष आदि हैं बड़े आदि हैं एवं प्रकारान प्रासाद आदि सृजे ऐसा पहले इच्छित ऐसे इक्षण करता विचार करता इस प्रकार के मकान आदि बनवाऊंगा बनाऊंगा ऐसा विचार करके अनंतरम प्रासाद आदि सृजती फिर ये महल आदि मकान आदि को बनाता है सृष्टि करता है उसी प्रकार परमात्मा ने किया ठीक टीका में कहा अत्र ईक्षण पूर्वक सृष्टि उठते प्रयोजन ये ईक्षण पूर्वक सृष्टि का पहले मंत्र में ईक्षण बताया इस मंत्र में सृष्टि बताई परमात्मा ने पहले विचार किया फिर सृष्टि की ऐसा कहने का क्या प्रयोजन होगा अत्र यहाँ ईक्षण पूर्वक सृष्टि है प्रयोजनम इसका प्रयोजन क्या है सृष्टु चेतन तो सिद्धि जगत सृष्टा चेतन है सिद्ध करना ये टाप करेगा जगत का सृष्टा जो होगा सृष्टिकर्ता चेतन है सांख्यादि के समान जड़ नहीं सांख्य जड़ को माना है जगत का सृष्टा प्रधान को माना ऐसा नहीं ये कहा सिद्धि इति अभिप्रेत्य ऐसा मान करके तथा विदस्य आदेश चेतन तो उसी प्रकार के देखो लोक में कोई कार्य करना हो तो पहले चेतन व्यक्ति ही ईक्षण करके काम करता है जैसे कारपेंटर आदमी देखा है वैसे सृष्टि के पहले भी परमात्मा है इसलिए उसने ईक्षण किया इसलिए चेतन का ही दृष्टांत दिया बोलते हैं सृष्टुश्चेतन एक नंबर टिप्पणी कहा साच सांख्यादि पक्ष प्रतिक्षेप प्रतिक्षेपार्थ तो सृष्टि इसलिए बताया स्रष्टा का चेतन चेतन सृष्टि किस लिए ईक्षण क्रिया इसलिए कहा सांख्यादि पक्ष का खंडन कर रहे हैं सांझादी अचेतन को जगत का सृष्टा मानते हैं इसलिए उसका खंडन के लिए कहा कि ईक्षण कहा जैसे लोग में कोई बुद्धिमान शिल्प आदि अपने मनुष्य में जो बनने वाले विषय को पहले विचार करता है उत्पाद बनाता है चेतन होता है वो इसी प्रकार परमात्मा चेतन है सृष्टिकर्ता चेतन कहा ठीक है हमें आगे बोलते हैं ननु इक्षितु तक्षादेर धारुवादि उपादान कारण सहित प्रासादादि धृष्टम युक्तम यह तो आत्मा वै इदम एक उक्त अदित्वेर उपादान कारणांतराभावात सृष्टितम न युक्तम संकते पूर्वादि एक शंका करता है जो तक्षादि हैं कारपेंटर आदि जो होते हैं जो इक्षण करने वाला उसके पास में उपादान कारण मकान बनाने के लिए लकड़ी आदि अलग होते हैं किंतु आत्मा है सृष्टि के पूर्व में अकेला ही है चेतन तो है ठीक है किंतु उपादान कारण कुछ भी नहीं मटेरियल कुछ भी नहीं हो सकता कैसे सृष्टि करेगा यही शंका है नानु इक्षतु जो इक्षण करता तो तक्षादि होते जो दृष्टांत दिया गया लोग में जैसे तक्षादि पहले स्रष्टव्य वस्तु को विचार बना करके बाद में सृष्टि करते बोला इसी प्रकार इक्षित तो तक्षादे दारू आदि उपादान कारण से तो लकड़ी आदि जो उपादान कारण उनके सामने होता है वो तो निमित्त कारण होते हैं तक्ष आदि जो होते हैं कारपेंटर आदि मकान बनाने के लिए वहां आदि पड़े हैं उपादान कारण सहित होने से प्रासाद आदि सृष्टित्व तो मकान आदि के सृष्टा बन जाते हैं वो ठीक है किंतु यहाँ यह तो आत्मा अवई यह मंत्र कहा आत्मा अवई इदम एक एवं अग्रे आशित है आत्मा ही था कुछ भी नहीं था और ऐसा आया है तो यहाँ उपादान कारण कोई कुछ भी नहीं कैसे सृष्टि करेगा ये शंका है यह तो आत्मा अवैध इदम एक उक्त ऐसा कहा गया है पूर्व मंत्र आत्मा के विषय में अधिकत्व ना द्वितीय है ही नहीं उस काल में आत्मा को छोड़कर के कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं इसलिए उपादान कारणांतराभाव दूसरा वस्तु न होने से आत्मा से अतिरिक्त कोई है ही नहीं वहां कारण उपादान कारण नहीं है न हूं सृष्टित्व न युक्त सृष्टि करना बनता नहीं आत्मा से इसके लिए मटेरियल नहीं है उपादान कारण नहीं है ये शंका करा पूर्व पक्ष शंका करता है भाष्य में ननु सोपादान तक्षादि ही तक्षादि जो होते हैं कार्पेंटर आदि उपादान के साथ होते हैं वो उपादान सहित है सोपादान उपादान भी सहित है उसके पास अपने से भिन्न मटेरियल है वहां काष्ठादि है उसके पास मैंने सोपादान तक्षादि प्रासाद आदि सृजती उत्तम वो तो ठीक है मकान आदि बनाता है वो ठीक है उसके पास उपादान कारण लकड़ी आदि सामग्री है वो कर सकता है अपने से भिन्न वो तो केवल बनाता है बनने वाला दूसरा है वहां किंतु यहां निरुपादान उसको आत्मा आत्मा तो निरुपादान है उपादान कारण है नहीं आत्मा के पास निर्गतम उपादान इसमें उपादान कारण कुछ भी नहीं उसके पास केवल आत्मा है यहां निरुपादान तो आत्मा आत्मा तो निरुपादान है उपादान कारण जो बनना है वो चीज नहीं है बनाने वाला तो आत्मा होगा किंतु बनने वाला वस्तु नहीं है निरुपादान आत्मा कथम लोकांतरियति लोगों की सृष्टि कैसे कर सकता है ये शंका है तो सिद्धांत कहते हैं नैश दोष कोई दोष नहीं है है उपादान कारण आत्मा के पास भी उसका है तो जगत का बीज रूप नाम रूप अभी स्थूलीभूत हुआ या अव्याकृत रूप में नाम रूप थे उसको उपादान कारण बढ़ा लेता है ये बोलना चाहते हैं अनभिव्यक्त अवस्था के नाम रूप पड़ा हुआ आत्मा में बैठा हुआ है वो उपादान कारण स्थूलीभूत की है ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ उपादान काल मिल जाएगा बोलते नहीं सदोष सिद्धांत कहते हैं शरीर फेना स्थानीय है जैसे अभी जो फेन बन के निकल आता है जल में उसके पूर्व में भी वो फेन जल में छिपा हुआ था अनभिव्यक्त नाम रूप में था बाहर आने के बाद अभिव्यक्त नाम रूप हो गया इस प्रकार यहां भी शरीर फेन स्थान ये जल और फेन के स्थान में है आत्मभूते या आत्मा से अतिरिक्त नहीं थे जैसे फैन जो होता है जल से अतिरिक्त नहीं होता है किंतु एक अवस्था में अतिरिक्त जैसा दिखता है उसी प्रकार आत्मस्वरूप बने हुए जो अव्याकृत नाम रूप हैं अभी तो थूल सृष्टि होने पर तो थूल हो गए व्याकृत हो गए पूर्व अवस्था में जो अव्याकृत अवस्था में है नाम रूप आत्मस्वरूप ही थे उस काल में आत्मा से अतिरिक्त हो नहीं पा रहे थे आत्मभूते सब प्रथमा के दो वचन है आत्मभूते अव्याकृत नाम रूपे नाम रूपये पाठ होना चाहिए आत्मा ही का शब्दवाच्य उस काल में आत्मा एकमात्र आत्मा शब्द से कहा जाता था और नाम रूप अलग नहीं थे अभी सृष्टि काल में नाम रूप अलग हो रखे हैं आत्मा ही का शब्दवाच्य आत्मा के लिए जो शब्द का प्रयोग होता था उसी शब्द का वाच्य अर्थ बने थे वो व्याकृत फेन स्थान यह जगत ये जगत जो है जैसे जल से फेन निकलता है उसी प्रकार व्याकृत अवस्था का स्वरूप है जगत का ही व्याकृत फेन थानीय जगह उपादान भूत संभवतः उपादान कारण है माने अनभिव्यक्त नाम रूप वाले अवस्था के जो नाम रूप थे आत्मा के साथ एकत्व तो प्राप्त करके बैठे हुए थे अभिव्यक्ति नहीं थी जिन नाम रूप तो ऐसा नाम रूप उपादान कारण ऐसी स्थिति तस्मात आत्मभूत नाम रूप उपादान आसन आत्मस्वरूप आत्मा से अतिरिक्त जो कहा नहीं जाता था नाम रूप को उस काल में माना विलुप्त दशा में थे नाम रूप तो आत्मस्वरूप तो नाम रूप है एक उपादान वाला होता हुआ आत्मा आत्मभूत नाम रूप उपादान कारण वैश्य अपने स्वरूप भूत जो उपादान कारण है नाम रूप उपादान कारण वाला जो आत्मा है वह ऐसा होता हुआ आत्मा सर्वज्ञ वह सर्वज्ञ है उसको उपादान कारण बनाएगा अनव्यक्त अवस्था के जो नाम रूप है आत्मा के साथ एकत्व प्राप्त करके बैठे उसको उपादान कारण इसलिए जगत निर्मित यदि सर्वज्ञ है वो तो जगत निर्मित यदि अनिरुद्धम जगत का निर्माण करता है एक में कोई विरोध नहीं होता है ठीक है देखते सिद्धांतिक की ओर से शंका करने के भाई उसके लिए उपादान कारण की आवश्यकता नहीं है श्रुतियां बहुत है आत्मा के विषय में न तो बहुश्याम प्रजा ऐसा कहा है भाई एक हूं अनेक रूप से हो जाऊं ऐसा आत्मा बोलता है सृष्टि के पूर्व न च बहुश्याम प्रजा ऐसा एक श्रुति है बहुत रूप से वही प्रकट हो जाओ अथवा तद आत्मान स्वयं होता उस आत्मा ने अपने को ही स्वयं बनाया हाँ, स्वयं बनाया बन, बनाने वाला भी आत्मा बनने वाला भी आत्मा ऐसे भी स्तुति है उपादान और विगत कारण एक ही आत्मा में दिखा दिया है श्रुत श्रुतिया आत्मा एक उपादान सिद्धांत की ओर से बोल दिए कि आत्मा ही उपादान कारण हो जाएगा क्योंकि न तो बहुश्याम बहुश्याम प्रजा ये बोला मैं ही हो बहुत सारे तो उपादान ही है इसी प्रकार तद आत्मा तदा आत्मान स्वयं वह आत्मा स्वयं को ही उसने बनाया इत्यादि जो श्रुति है इसके श्रुतियों से आत्मा ही उपादान कारण हो जाएगा इसलिए न उपादान करान अपेक्षा अन्य उपादान कारण की अपेक्षा नहीं ऐसा कोई एकदेशी शंका करे सिद्धांत की तो पूर्व पक्षी बोले न वाच्य ऐसा नहीं कहना क्यों तो वेदादेर व्यावहारिक अत्वेना आकाश आदि जो सृष्ट होना है अभी सृष्टि होनी है वो व्यावहारिक वस्तु है वो जो मैं ही बहुत हो जाऊं तो विवर्तवाद में कहा है यहां व्यावहारिक है आगे सृष्टि जो होनी है व्यवहार में आते हैं आकाश आदि वेदादेर व्यावहारिक जो वेदादि आकाश आदि की सृष्टि होनी है ये व्यावहारिक होने से घटाधिपत परिणाम तो अब जो व्यावहारिक होते हैं जैसे घट व्यवहार के योग्य होता है परिणाम होता है मिट्टी का परिणाम है वो इसी प्रकार ये जगत जो सृष्टि जगत की सृष्टि होगी वो परिणाम होगा तो परिणाम के लिए विवर्त नहीं कि जो भविष्य प्रजा आदि विवर्तवाद को लेकर कहा है और यहाँ परिणाम है तो उपादान कारण चाहिए ये पूर्वादि बोलेगा तो कहा वेदादेर व्यावहारिकत्व पूर्व पक्षी बोल रहा है वेदादि जो आकाश आदि है व्यावहारिक होने से घटाधिपत परिणाम जैसे मिट्टी का परिणाम है मिट्टी का विवर्तन ही परिणाम है इसी प्रकार ये भी जगत भी परिणाम है होने से तस्य परिणाम उपादान वक्तव्य परिणाम उपादान कहना पड़ेगा आपने जो पौष्यम प्रजा ये कहा तद आत्मान स्वयं उपलब्ध विवर्तवाद है विवर्त उपादान होता है वहां क्योंकि परिणाम उपादान देना पड़ेगा कि व्यवहारिक है जगह ऐसा पूर्वाज ने कहा तो आगे न तो आत्मा तथा भविष्य पूर्वाज और बोलता है आत्मा परिणामी तो नहीं हो सकता ना परिणामी उपादान तो नहीं हो सकता आत्मा तो उससे जो जगत होना है व्यावहारिक होना है व्यावहारिक में परिणामी उपादान चाहिए जैसे घट एक व्यावहारिक वस्तु बनता है मिट्टी से बनता है मिट्टी व्यावहारिक है परिणाम उपादान है वो वैसे तो चाहिए ऐसा पूर्व आत्मा तो ऐसा हो नहीं सकता क्यों तस्य निर्भय अपरिणाम आत्मा तो निर्भय परिणाम होने के लिए सावध वस्तु का परिणाम होता है व्यक्ति का परिणाम होता है तो, तो आत्मा निर्भय है तो परिणाम उपादान तो बन नहीं सकता उसके बाद दूसरा उपादान कोई कारण साधन है ही नहीं तो कैसे जगत बनाएगा ये पूर्वादी की शंका है तस्य आत्मा निर्भयत्व निर्भय होने से अपरिणामित्व भाव तो सिद्धांत आगे उत्तर देना चाहते हैं इसका उत्तर देना चाहते हैं नहीं नहीं आत्मा का परिणाम भी हो सकता है क्यों वहां पर आत्मा में अभी जो व्याकृत नाम रूप है इस अवस्था में सृष्टि अवस्था में वो अव्याकृत अवस्था में नाम रूप छिपे हुए हैं आत्मस्वरूप होकर के बैठे हैं तो आत्मा में थे तभी तो निकले वहां से उसको बनाएगा उपादान कारण वो जो नाम रूप को जो स्थूलीभूत नाम रूप जो बनना है उसके लिए उपादान कारण हो जाए अव्याकृत अवस्था के नाम रूप जो आत्मस्वरूप ही थे आत्मा से अतिरिक्त नाम नहीं था जैसे फैन निकलने के पूर्व अवस्था में वो फैन जल रूपी था बाद में फैन रूप हो जाता है उसी प्रकार नाम रूप पहले गुप्त रूप में थे सुप्त रूप में थे आत्म रूप थे वो उपादान कारण हो जाए ये उत्तर देना है ये सिद्धांत कहना चाहते हैं तत्र वेदादे परिणामत्व अंगीकृत यद्यपि वेदांत मत में आकाश आदि कोई परिणाम नहीं है ये विवर्त है सारे फिर भी पूर्वादि ने जिस ढंग से कहा आकाश आदि परिणामी है व्यावहारिक होने से परिणाम कहा तो चलो उसको मान करके उत्तर देते हैं अगर परिणामी मानते हैं तो वह परिणाम के लिए उपादान कारण मिल जाएगा नाम रूप अव्याकृत अवस्था का यद्यपि वेदांत में तो सारे विवर्त हैं परिणाम होता ही नहीं है या तो दुष्य दुर्जन न्याय बोलते हैं सामने वाले के पात्र को रख देना मानेंगे तब भी उपादान कारण मिल जाएगा ये बोलना चाह रहे हैं तत्र वेदादे परिणामत्व अंगीकृत है यद्यपि वेदांत मतलब आकाश आदि को परिणाम नहीं मानते विभक्त मानते हैं किंतु फिर भी पूर्व पक्ष जैसे मान्यता बनाया हुआ है उसको मान करके परिणामित्व अंगीकृत परिणाम को मान करके भी क्या होता है अंगीकृत तत्र अनभिव्यक्त नाम रूपावस्थम बीजभूतम अभ्याकृतम उस आत्मा में नाम रूप बैठे हुए हैं उस सृष्टि के पूर्व काल में भी कैसे हैं अनविव्यक्त नाम रूप अवस्था में अभिव्यक्त नाम रूप अवस्था में अनविव्यक्त नाम रूप अवस्था का जो जगत है इसका बीज भूतम जो बीज है जिससे आगे थूल जगत बनना है अव्याकृतम जिसको अव्याकृत शब्द से कहा गया है ऐसा वहां उपादान का अर्थ है रूप में श्रुति बोलते तदेदम तही अव्याकृतम आशी ये जगत उस काल में अव्याकृत अवस्था में था सृष्टि के पूर्व अवस्था वो जो अव्याकृत शब्द से कहा गया इस फूलीभूत नाम रूप का बीज अवस्था है वो नाम रूप है वहां सूक्ष्म रूप में है और तमालाशित बोला है क्या स्मृति में तम था मैंने वही अव्याकृत अवस्था में था अविद्या अज्ञान मायाम तो प्रकृति विद्या कहा है कहीं जगत के प्रकृति को माया समझो कहा वही नाम रूप को कहा अव्याकृत अवस्था के लिए कहा इत्यादि स्मृति से दम परिणामी उपादान अस्थित उस काल में भी परिणामी उपादान तुम चाहते हो तो वहां भी परिणामी उपादान मिल जाएंगे सिद्धांत को यद्यपि हम नहीं मानते परिणामी उपादान जगत के लिए हमारे यहां तो सब विवर्त है है आत्मा दिखाई पड़ रहा है जगत किंतु फिर भी सामने वालों को बातों रखते हुए मान रहे हैं परिणाम उपादान बोलते हो तो वहां नाम रूप है अत्याकृत अवस्था के नाम रूप पड़े हुए आत्मरूपी थे वो एक कहा एक कहा दो नंबर की टिप्पणी थी यहां उसमें बताते हैं एक नंबर की है व्याकृत में भाष्य में व्याकृत अव्याकृत तथा अभेदन उभय रूपत्म नाम रूपा देखो नाम रूप का दो अवस्था है व्याकृत और अव्याकृत अभी तो व्याकृत अवस्था में है प्रत्येक वस्तु अपना नाम प्राप्त करके बैठा है अपने आकृति भी धारण करके बैठा हुआ है यह व्याकृत अवस्था है पूर्व में आकृति भी नहीं दिखती थी किसी वस्तु की नाम भी नहीं मिलता था किसी वस्तु की वो है अव्याकृत अवस्था के नाम इसलिए अव्याकृत अवस्था वाले नाम रूप उपादान कारण हो जाएगा व्याकृत अवस्था वाले के लिए और आत्मा निमित्त कारण हो जाएगा जगत बनाने के लिए मटेरियल मिल जाएगा यही उत्तर दे रहे हैं शरीर फेन स्थानीय इत्यादि दृष्टांत दिया जैसे फैन जो होता है ना अभी नाम मिल गया उसको फैन नाम मिल गया आकृति की दूसरे ढंग की आकृति आ गई किंतु इसके उत्पत्ति के पहले वो फेन जल रूप में था जल रूप में था वैसे यहां भी अत्याकृत अवस्था के नाम रूप आत्म रूप में थे एक फेन और जल का उदाहरण दिया इसमें सलिल स्थान है तुम तो बतू युक्तम सलिल स्थान यह तो ही लेना ठीक होगा वक्तुम युक्तम वक्तुम अत्याकृत विशेष तत्व ये सलिल स्थानीय तो लेने के लिए क्या दिया अत्याकृत शब्द बोला जैसे फैन पूर्व अवस्था में जल रूप में ही था इसलिए अभी जो नाम रूप प्राप्त किया हुआ जगत है वो आत्म रूप में था नाम रूप वहां नहीं कोई जो नाम रूप है अनभिव्यक्त अवस्था के नाम रूप उपादान कारण हो जाएगा ये बोलता है फैन से अपनी सतह एवं अभिव्यक्त उपमा प्रायिकम ये सत्य फैन भी तो उस आत्मा से उत्पन्न होना वास्तव तो ये है वेदांत में तो परिणाम है ही नहीं विवर्त ही तो है घटावच्छिन्न चेतन में घट कल्पित होता है पटावच्छिन्न चेतन में पट कल्पित होता है सब चेतन में कल्पित है वेदांत में उसका कोई उपादान कारण होता ही नहीं वेदांत मुख्य वेदांत मत यह होता है एक अर्थ दो में क्या परिणामत्व परिणाम कहा तो परिणाम क्या है दो प्रकार के परिणाम होते हैं एक अन्यथा होकर के परिणाम हो जाना एक अन्यथा न होते परिणाम हो जाना ये ये कहना चाहते हैं परिणामों नाम उपादान समसत्ता को अन्यथा भाव अन्यथा भाव तो विवर्त में भी है परिणाम में भी है किंतु उपादान कारण जिस सत्ता वाला है वही सत्ता वाला वस्तु उत्पन्न हो जाता है उसको परिणाम करते हैं उपादान कारण कोई भिन्न सत्ता का हो और उत्पन्न होने वाली भिन्न सत्ता का हो उसको विवर्त बोलते हैं यही होगा विवर्त और इसका परिणाम का परिणामों नाम उपादान समसत्ता को अन्यथा अन्यथा भाव तो दोनों में रज्जु में सर्प बनना भी है मिट्टी में घट बनना भी है मिट्टी में घट बनना दोनों व्यावहारिक सत्ता में है और रज्जु में सर्प बनना रज्जु व्यावहारिक सत्ता की है सर्प प्रादिभाषिक सत्ता की है विषम सत्ता है वो ये होता है विवर्तन परिणाम में सम सत्ता मान मिट्टी भी व्यावहारिक है तो घट भी व्यावहारिक है सम सत्ता में अन्यथा भाव है अंतिम मिट्टी से अन्य बन गया ये वहां रज्जु से अन्य बना हुआ सर्प दोनों में एक विषम सत्ता है एक में सम सत्ता है उपादान परिणाम इसको मानते हैं उपादान समसत्ता को अन्यथा भाव उपादान सत्य समान सत्ता वाला अन्यथा भाव अन्यथा तो है किंतु तद विषम सत्ता तद माने परिणाम विषम सत्ता तद माने उपादान उपादान विषम सत्ता स्तु सब विवर्तन तो उपादान विषम सत्ता वाला उपादान भिन्न सत्ता का हो और जो कार्य भिन्न सत्ता में हो जाए उसको विवर्तवाद बोलते हैं जैसे रज्जु में सर्प दिखना वहां रज्जु व्यावहारिक सत्ता वाला है और सर्प प्रातभाषिक सत्ता वाला ये विवर्त है और मिट्टी में घट बनना दूध में दही बनना मान दोनों व्यावहारिक सत्ता की वस्तु है दूध भी दही भी उपादान कारण जो दूध होता है वही व्यावहारिक वस्तु व्यावहारिक सत्ता वाला ही सत्ता दही में है ये होता है परिणाम ये विवेक तो उपादान और विवर्त में यही विवेक करना विषम सत्ता में वस्तु अन्यथा भाव हो गया है तो विवर्त है सम सत्ता में है तो परिणाम है ये कहा तो आगे नई दोषा करके भाष्य में बता दिया था सलिल फेन स्थानीय आत्मभूत अभ्याकृत नाम रूपे आत्मिक शब्द वाच्य व्याकृत फेन स्थानीय से जगत उपादान होते संभव उस काल में भी उपादान कारण है अभी व्याकृत तो नाम रूप प्राप्त करना है यही तो जगत है नाम रूपी जगत है तो इसके उपादानभूत नाम रूप थे उस काल में अव्याकृत अवस्था वाले थे जो आत्म रूप में ही थे वो आत्म रूप से अतिरिक्त नहीं कहा जाता था जैसे फैन उत्पन्न होने यही फैन जल रूप में था जल से अतिरिक्त रूप नहीं था ऐसे वर्तमान का जो नाम रूप है नाम रूप बीज रूप में थे उस काल में आत्मरूप थे वो ये बता दें वही हो जाएगा उपादान कारण बता दिया से ठीक है आत्मभूते अनेन अनभिव्यक्त नाम रूप शब्दित अव्याकृत आत्मनि अध्यस्तत्व परिणममान अविद्या अधिष्ठान आत्मनो विगत तयोर आत्ममात्र दृशात्वा आत्मरो अविद्य निवृत्ति दर्शन ये जो आत्मभूते विशेषण लगा के बाद नाम रूप थे उस काल में किस रूप थे आत्मस्वरूप थे वो आत्मा से अतिरिक्त रूप नहीं था सृष्टि के पूर्व अवस्था में आत्मभूत कहने से क्या होगा इस वाक्य के द्वारा अनभिव्यक्त नाम रूप शब्द अव्याकृत से आत्मने जो अनभिव्यक्त नाम रूप का नाम रूप से कहे गए जो अव्याकृत वस्तु है अनभिव्यक्त नाम रूप वाले अव्याकृत वस्तु आत्मा में अध्यस्त थे वो आत्माभूत कहने के तो बाद आत्मा से अतिरिक्त आत्मा से अध्यस्त थे आरोपित थे परिणममान अविद्या अधिष्ठान उसमें जो परिणाम होने वाला अविद्या का अधिष्ठान आत्मा है होने से आत्मनो विवर्त उपादान तुम तो अविद्या का परिणाम होना है तो उस अविद्या का आत्मा आश्रय है अध्यस्ता का अधिष्ठान है अविद्या का इसे आत्मा हो जाएगा विवर्त आत्मा का विवर्त हो जाएगा जगत अविद्या का परिणाम होगा ये परिणाम उनका होना है नाम रूप का वो अविद्या है वो तो उसके अधिष्ठान आत्मा है इसलिए आत्मा में विवर्त कारण तो आ जाएगा विवर्त उपादानत्व और जो नाम रूप में उपादान कारण का वो अविद्या है ऐसा तयोर आत्ममात्र तो वो जो नाम रूप आत्मा से अतिरिक्त नहीं है उसका जो नाम रूप वहां अनविव्यक्त दशा में पड़े हुए हैं जो जगत उपादान कारण बने आत्मा से अतिरिक्त नहीं तयोर आत्ममात्र दृशात्वा वो आत्ममात्र होने से वो नाम रूप झूठा है झूठा है मिथ्या है आत्मा अदित्यम और वो होने पर भी आत्मा के अदित्य जो नाम रूप है आत्मा में अध्यस्त है वो वस्तु नहीं है इसलिए वो झूठा है झूठा होने से आत्मा में सदित्यत्य भी नहीं आएगा उसके द्वारा आत्मादित्यम तो न विरुद्ध विरुद्ध नहीं होगा एक आगे दिखाया नाम रूपे ऐसा कहा नाम रूपे अव्याकृते आत्मा के शब्दवाच्य इत्यादि कहा तदाश्रय अव्याकृतम इतना जो नाम रूप का आश्रय अव्याकृत होगा तयोर आश्रय नाम रूप का जो आश्रय है अव्याकृत अव्याकृत आगे टीका में कहते इधानी घटादिशु अभी पूर्वतदा एवं ये तो परिणामी मान करके उपादान कारण ढूंढ करके सिद्धांत ने पक्ष ने बोला उपादान कारण नहीं है आत्मा कैसे सृष्टि करेगा जहां जहां सृष्टि होती है जैसे तक्ष आदि कारपेंटर आदि काम करते हैं उसके लकड़ी आदि उपादान कारण होती है आत्मा के पास में उपादान कारण कुछ है ही नहीं तो कैसे सृष्टि करेगा ऐसा कहने पर परिणामवाद को लेकर के मानी तुष्य दुर्गन न्याय से उत्तर दे दिया भाई ये जो फूल नाम रूप फूल होना है इसके पूर्व अवस्था में नाम रूप अव्याकृत अवस्था में था वो, वो इसका उपादान कारण हो जाएगा आत्मानिमित्त कारण बन जाएगा इसलिए आत्मा का विवर्त उस नाम रूप परिणाम हो जाएगा ये कहा था अब कहते हैं वास्तव में घटादि में भी परिणाम नहीं मानते वेदांत मिट्टी का जो घर बनता है वो विवर्त ही है पहले एक परिणाम ही मान करके चल रहे थे अब कहते हैं इधानी घटादिशु अभी विवर्तता एवं घटादि में भी विवर्त कारण ही होता है आत्मा विवर्त ही है मिट्टी का विवर्त ही हो है मिट्टी है हम घट मान मान रहे हैं हम मिट्टी बिगड़ करके घट बना ऐसा नहीं है मिट्टी को घट मानने लगते हैं विवर्त कारण ही है परिणाम है क्यों का नाम विवर्तात अन्यो नास्ती है जो परिणाम परिणाम बोलते हैं विवर्त से अन्य होता ही नहीं वास्तविक दृष्टि में देखा जाए जहां परिणाम शब्द का प्रयोग करते हैं वो विवर्त से अन्य सिद्ध नहीं होता है मिट्टी जिसमें घट को परिणाम मानते हैं वह कुछ नहीं हुआ है मिट्टी बिगड़ के नहीं बनी घट कुछ नहीं हुआ है एक अवस्था में उसको घट करने लग गए विवर्त ही है बाचार विकारो नाम है भी बोलते हैं श्रुति भी बोलती है विवर्त से अतिरिक्त तो परिणाम होता ही नहीं वास्तव में विवर्त इति परिणाम इति जो पर्याय जो विवर्त बोलो चाहे परिणाम बोलो पर्याय पर्यायवाचक शब्द है एक ही है वो एक ही होता है पर्याय यदि आरंभणाधिकार न तद अनन्यतम आरंभण समयादिव्य कहा है कार्य जो होता है कारण से अभिन्न होता है ऐसा कहा तो माने मिट्टी से घट बनने के नाम परिणाम में अलग होना चाहिए किंतु कार्य को अभिन्न बताया है तद अनन्यतम आरंभण ब्रह्म सूत्र ऐसा बोलता है कार्य जो होता है कारण से अभिन्न होता है क्योंकि घट जो होगा मिट्टी से अभिन्न होता भिन्न हो ही नहीं सकता अगर भिन्न हो तो मिट्टी मिट्टी निकाल दिया जाए तो घर का अस्तित्व तो क्या बचेगा कुछ नहीं बचता कार्य जो नाम मात्र प्राप्त करता है कार्य नाम एक घट नाम प्राप्त किया उसने किंतु तो, तो वस्तु नहीं होता वो कारण से मिट्टी है वो चारों कोना कहीं भी देखो इधर नीचे ऊपर कहीं भी मिट्टी है अगर मिट्टी को निकाल दिया तो उसकी सत्ता ही नहीं घट की जिसको पट बोलते हैं धागा निकाल दिया जाए तो क्या रहेगा इसमें ये धागा ही है धागा से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है तो विवर्त ही होता है वास्तव में परिणाम होता ही नहीं ये तो सामान्य लोगों के परिणाम बाद की मान्यता मात्र है ये कहते हैं इधानी घटादि अभी विवर्तता एवं घटादि में भी परिणाम नहीं पहले कुछ दुर्जन न्याय लगा करके युक्ति से बता दिया कि परिणाम ढूंढते हो तो अव्याकृत अवस्था के नाम रूप परिणाम वहां के उपादान कारण है परिणाम के लिए जगत बनने के लिए ऐसा बोल दिया था किंतु वास्तव में वेदांत मत में तो विवर्त ही होता है इधानी घटादिशु विवर्तवा एवं विवर्तवाद ही होता है घट भी मिट्टी का परिणाम नहीं विवर्त ही है वो भी ऐसे परिणाम नहीं विवर्त सारी जगह विवर्त ही मानते हैं जैसे देखो परिणामों नाम विवर्ता दंडो नास्ती है परिणाम माने क्या होता है विवर्त से अतिरिक्त वस्तु होता ही नहीं कैसे दिखाते हैं विवर्त इति परिणाम इति पर्याय यह आरंभादिकरण से सिद्ध होता है ब्रह्मसूत्र से सिद्ध होता है तद तुम आरंभ शब्द आदित्य जो आरंभ होता है केवल वाचारंभ है नाम मात्र प्राप्त करता है कुछ नहीं होता उसमें होता है कारण ही होता और कुछ नहीं होता कारण से अतिरिक्त वस्तु रहता ही नहीं कारण ही है वो केवल कार्य नाम प्राप्त किया वाचारण अधिकारो नाम यही आरंभ आदि करने का ही अर्थ होता है यदि आरंभाधिकरण न्याय ना विवर्तया सिद्ध है आरंभाधिकरण जो युक्ति देते हैं तो सारे विवर्त ही सिद्ध होते हैं तद अनन्यत्म तद मान कार्य कारण से अभिन्न है केवल आरम्भ शब्द कहा बाचारमण विकारो नाम का शब्द में कहा है तो कारण को निकालेंगे तो कार्य नाम की कोई वस्तु ही नहीं मिलेगा स्थिति छांदोगे में त्रिविध की चर्चा आई जल पृथ्वी की ठीक है और पृथ्वी को अन्न शब्द से कहा है जल को अप शब्द से कहा है तो उनमें पृथ्वी में कृष्ण रूप है कहा कृष्ण रूप रहता है जल में शुक्ल रूप है और तेज में रक्त रूप है हाँ। लौहिक वही रक्त रूप है अग्नि जो हमारे पास है त्रिविध कर है जब हम आग जलाते हैं वहां तीनों रूप होते हैं तीन रूप का पुंज है उसमें कृष्ण रूप भी है क्योंकि त्रिविध दल में पृथ्वी अंश भी है जल अंश भी है तेज अंश भी है जिसको हम अग्नि बोलते हैं उनमें से तीन अंश यदि निकाल दिया जाए कृष्ण रूप निकाल दिया जाए लोहित रूप निकाल दिया जाए शुक्ल रूप निकाल दिया जाए अग्नि के अग्नि तो रहेगा अग्नि नाम की वस्तु मिलेगा ही नहीं कारण निकाल दिए तो कार्य नाम की वस्तु नहीं दिखाए धान में तो। अपाघात अग्नि अग्नित्व ये तीन निकाल दो उसमें से तीन अंश मिलकर बना था पृथ्वी अंश जल अंश तेज अंश मिलकर वो अग्नि नाम का एक त्रिवेद कर्ण से बना हुआ वस्तु है वो वो तीनों को निकालेंगे कुछ भी नहीं रहेगा अग्नि का अग्नि तो खत्म ऐसा दिखाया हुआ है तो ये आचारण न्याय यही है आरम्भादि का न्याय है ना दया सिद्ध है घटादि में भी विवर्तवादी सिद्ध होता है घट नाम के एक केवल शब्द उच्चारण होता है व्यक्ति नहीं मिलता वस्तु नहीं मिलता व्यवहार दृष्टि में घर दिख रहा है विचार दृष्टि से चलेंगे तो मिट्टी दिखती हो ऐसा है विकारे भी आत्मकृत विकार मानने पर भी विकार विकार मानने पर भी आत्मकृत परिणामात ब्रह्मसूत्र है आत्मकार्य है परिणाम होने से ऐसा कहा है आत्मा का विवर्त ऐसा है परिणाम होने से ऐसा होता है यदि सूत्रकार परिणाम शब्द प्रयोग बड़ी विकार में भी विवर्त में भी परिणाम शब्द का प्रयोग किया है सूत्रकार ने ब्रह्म सूत्रकार ने तो कैसे तो टिप्पणी का बताएंगे पूरा सिद्धम ये सिद्ध है माने परिणाम का विवर्त में सिद्ध है तत्र तो सतैव उपादान विवर्त में तो सत आत्मा ही उपादान कारण बनेगा जब विवर्तवाद होगा तो वहां पर कोई मटेरियल ढूंढने की जरूरत है उपादान कारण आत्मा ही हो जाएगा रसी पड़ी होगी सर्प दिखाई देगा रसी को बिगड़ना नहीं है सर्प बनने के लिए वैसे आत्मा है जो कहते हो आत्मा है अद्वितीय आत्मा अद्वितीय जगत दिख रहा है ऐसा हो गया टिप्पणियां हैं तीन की टिप्पणी पर्याय पर्याय यदि सिद्धम यदि व्यवहित में संबंध पर्याय के ये पद का अगले में सिद्धम पद है वहां ले जाकर अन्य करना कहा चाहे विवर्त बोलो चाहे परिणाम बोलो दो, दोनों पर्याय शब्द ही सिद्ध हो गया ऐसा कहा चार में इति आरंभाधिकरण माना तत्र आरंभाधिकरण न्याय ना विकार से विकार विवर्ततया सिद्धत्म एको हेतु माने क्या है आरमाधिकरण के हिसाब से क्या विकार जो होता है कारण ही होता है उसे और विवर्त ही होता है और कुछ सिद्ध नहीं होता यही सिद्ध होता है उसके आधार पर वहां दृष्टांत देकर बोला यही घाटा पृथ्वी आदि का कोई भी आप कोई भी वस्तु लीजिए वो कारण दृष्टि में जाने पर कार्य नाम केवल शब्द प्रयोग होता है वस्तु नहीं होता ये उसका तात्पर्य होता है आरम्भ आरम्भ सूत्र का अर्थ करते हैं तद तो अनन्यत्म आरम्भ आदि तत्कार्यम कारणात् कारण अभिन्नतम कारण के साथ अभिन्नता है उसकी कारण ना अभिन्नम कार्य जो होता है कारण से अभिन्न होता है भिन्न नहीं होता माने कारण को छोड़कर ये कार्य कहीं जा नहीं सकता कारण तो कार्य से भिन्न हो जाता है कारण कार्य के अभाव काल में भी कारण रह जाता है किंतु कार्य जो हो कारण से भिन्न नहीं हो सकता मिट्टी को छोड़ करके घट कहीं जा नहीं सकता अगर जाना जाएगा तो अपने सब तक होएगा वो किंतु घट को छोड़ करके मिट्टी रह सकती है घट के न होने पर मिट्टी होती है ये कहना चाहते हैं टिप्पणी में कहा तद अनंतम आरम्भवादिभ्य ये कहा हुआ है वो जो कार्य होता है कारण से अभिन्न होता है तेरह अनंतम तद अनंत कारण से अभिन्न होता है कार्य आरम्भ शब्द है वाचारोहण विकारो नामधेय मृतिका के शब्द में आरम्भ शब्द है केवल वाणी का आलमन करता है जो बोलते हैं असली मिट्टी मिट्टी ही सत्य होती है और मिट्टी में भी देखेंगे तो उसका कारण जल सत्य होगा जल में भी देखेंगे उसका तेज सत्य होगा फिर वायु सत्य फिर आकाश फिर आत्मा में पहुंचे कहीं से भी जाओ आत्मा में पहुंचेगा कारण मुख्य कारण आत्मा में छह नंबर की बातें आगे विकारे भी विकार मानने पर भी हेतुतंत्र अन्य हेतु पे है अगर विकार मानो तब भी विकारे भी इत्यादि आत्मकृत इसका भाष्य देते हैं ये सूत्र है आत्मकृत परिणाम सूत्र है प्रथम अध्याय में है ये ब्रह्मसूत्र उसका भाषित है इत प्रकृति ब्रह्म इस हेतु से भी उपादान कारण ब्रह्म है प्रकृति माने उपादान कारण ब्रह्म होता है यद कारणम ब्रह्म प्रक्रियायाम जो कारण ब्रह्म है प्रक्रिया में ऐसा आता है तद आत्मान स्वयं अवकुरता आया वह बनाने वाला भी वही दिखता है बनने वाला भी वही दिखता है ये सूत्र ही दिखता है तद आत्मान स्वयं अकुरता उसने अपने को स्वयं बनाया मटेरियल भी स्वयं और बन, बनाने वाला भी स्वयं आत्मान स्वयं अपूर्ता तो आत्मान कर्म है और अपूर्ता करता है अपने को ही बनाया माने उपादान कारण भी अपने को बनाया निमित्त कारण तो स्वयं भाई है वो दोनों दिखता है इससे भी सिद्ध होता है विवर्तवादी सिद्ध होता है हाँ। तद आत्मान स्वयं गुरुति आत्मना कर्मत्व कर्तृत्व तो दर्शित इस सूत्र में आत्मा को कर्म भी दिखाया कर्ता भी दिखाया आत्मा को स्वयं को बनाया उसने बनाने वाला भी स्वयं बनने वाला भी स्वयं ऐसे दिखाया है आत्मान यदि कर्म कर्म तो वो सूत्र में तद आत्मान स्वयं अपुरुतम है जो आत्मान पर कर्म है वो कर्मत्व स्वयं अपुरतित कर्तृत्व स्वयं अपुरत पर कर्ता कर्ता को कथन करता है आगे पूर्व पक्ष बोलता है ठीक है टिप्पणी में कथम पुनः पूर्व सिद्ध से सदा कर्तृत्व व्यवस्थित से क्रियमाणत्म सत्यम संपादित पहले सिद्ध है कर्ता वो कर्ता पहले सिद्ध होता है उसको फिर कर्म कैसे बनाओगे आप ये सूत्र का कुछ अन्य अर्थ करना पड़ेगा तद आत्मान स्वयं आदि का कथम पुनः पूर्व सिद्ध से सतह पूर्व में सिद्ध है वो सत आत्मा हाँ, बनने के पहले सिद्ध है सतह कर्तृत्व में व्यवस्थित कर्ता रूप से व्यवस्थित है कर्ता पहले होता है बाद में कुछ बनाएगा कर्ता पहले सिद्ध होता है उसको क्रियमाण तो उसको की बनाए जाने वाला कैसे समझोगे उसको वो तो पहले बना हुआ है पहले से सिद्ध है कर्म कैसे बनाओगे उसको क्योंकि ये कहा तो कहते परिणाम उत्तर देते हैं आत्मकृत है परिणाम परिणाम है उसका परिणाम हो गया ब्रुमा सिद्धांत बोले हम आत्मकृत यदि ग्रुमा ये कहा परिणामात यदि ब्रुमा हम परिणाम हुआ होता है उसका ये बोलते हैं पूर्व सिद्धों भी सनातन इसका उत्तर उत्तर देते हैं परिणाम आत्मा पूर्व सिद्ध होने पर भी आत्मा विशेषण विकारात्मना परिणाम आसम आत्मान विशेष रूप से विकार रूप से अपने को ही परिणाम परिणत कराया यह अर्थ आ जाता है विशेष रूप से पहले सिद्ध होने पर भी विशेष रूप से मान जगत रूप से दिखाया उसने पहले तो अपने रूप में था अभी विशेष रूप से परिणत हो गया ऐसा कहा जाता है परिणम आशा ये लिट लगा है परिणाम कराया उसने आत्मान परिणय आशा अपने को ही परिणत कर दिया यह है आगे आठ की जो तत्र सतय उपादान कहा था विवर्त में तो क्या हो तत्र मैंने विवर्ते विवर्त में तो स्वतः उपादान कारण आत्मा ही बनेगा वेदांत में सारे विवर्तवान ही होता है इसलिए उपादान कारण की आवश्यकता ही नहीं है ये अर्थ आएगा ये कहा आगे टीका में कहते हैं माया तो सहाय मात्र जो माया है ना होता तो आत्मा ही विवर्त है उसमें उपादान कारण की कोई आवश्यकता ही नहीं है माया केवल सहयोगी है विवर्तन अज्ञान के कारण से रज्जु में सर्प दिखाई पड़ता है होता होना नहीं है दिखाई पड़ता है माया सहयोगी है वो यही है माया तो सहाय मातम अभिप्रत्य आत्मनि चैवम विचित्रा सही सूत्र में परिहारम दूसरा भी एक परिहार है स्वप्न दृष्टांत देकर के स्वप्न में कोई वस्तु नहीं होता अपने आप बनता है अपने आप बनाता है वैसे यहां भी जागृत में बनाने की आपत्ति रोज स्वप्न में बना रहा है स्वयं कुछ मटेरियल नहीं होता उपादान कारण बिना ही होता है वैसे जागृत में बन जाएगा सारा जगत उसमें उपादान कारण की आवश्यकता ही नहीं है माया सहयोगी है ये दिखाते हैं माया तो सहाय मात्र प्रत्याशन स्वीकार करके आत्मनि चैवन विचित्राश्च ही ये सूत्र है ब्रह्मसूत्र है आत्मा में ही सब कुछ कर देता है दूसरे मटेरियल की आवश्यकता नहीं स्वप्न में देखा है विचित्र वस्तु बना देता है अपने आप में अपने से भिन्न कुछ आई नहीं वहां कर देता है इसके नौ नंबर की टिप्पणी में कहा आत्मन अत्र भाष्यम अभी तो नैवात्र विविधव्यम कथम एकस्मिन ब्रह्मणी स्वरूप अनुमर्देन नैव अनेक कारा सृष्टि अनेकाकारा सृष्टि सियादी ये शंका नहीं करनी चाहिए विवाद नहीं करना चाहिए एक ब्रह्म में स्वरूप बिगाड़े बिना स्वरूप बिगाड़ करके तो बहुत हो सकता है वही स्वरूप रहे और एक ही व्यक्ति अनेक बन जाए कैसे हो सकता है स्वरूप भी जो का तो रहे उसके स्वरूप और व्यक्ति एक ही है और अनेक बन जाए कैसे होगा हाँ उसके अवयव करके टुकड़ा टुकड़ा करे कुछ अलग ढंग करे तब तो हो सकता है तो, तो एक ही वस्तु में स्वरूप बिगाड़े बिना अनेक होना कैसे बड़ी शंका होगी कि वेदांत में कैसे होगा आत्मा अनेक ये शंका आएगी तो उत्तर देते हैं ये उत्तर दे रहे हैं अभी चाहे नैव अत्र तब नहीं देखो इसमें कोई विवाद नहीं करना चाहिए कथम एक स्वरूप अनुमान देना ना नहीं भाई अनेकाकारा सृष्टि थी ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए विवाद नहीं करना चाहिए एक व्यक्ति में वही स्वरूप बना रहे पूर्व स्वरूप और अनेक आकार की सृष्टि भी हो जाए तो कैसे हो सकता है इसे विवाद नहीं करना चाहिए क्यों यथ उत्तर देते हैं क्योंकि देखो आत्मनि अपनी एक आत्मनि अति एकस्मिन एक ही आत्मा होता है स्वप्न दृष्टि जो तो स्वप्न दृष्टा कितने आत्मा होता है एक आत्मा है स्वप्न काल में अध्यय व्यक्ति होता है आत्मनि अपनी स्वप्न दृषि जो स्वप्न दृषि है स्वपन दृषि ने स्वप्न दृषि जो स्वप्न दृष्टा है उसमें स्वरूप अनुमर्दय नहीं स्वप्न दृष्टा अपने स्वरूप को बिगाड़ेगा नहीं आत्मा का स्वरूप वही रहेगा स्वप्न अवस्था में स्वरूप अनुमर्दय नहीं कारा सृष्टि अनेक प्रकार की सृष्टि पढ़ा गया है कहा क्या पढ़ा वृद्धारण पढ़ा है न तत्र रथा रथ योगा इत्यादि इत्यादि ना इत्यादि ना उसमें रथ भी घोड़े भी नहीं है रथ गाड़ी नहीं है और गाड़ी रथ योग माने गाड़ी खींचने वाले घोड़े भी नहीं है मार्ग भी नहीं है सब कुछ बना लेता है सब तो उसको क्या मानेंगे परिणाम वो बिगड़ता है एक ही में अनेक प्रकार की स्थिति दिखाई पड़ती है माया व सहयोगी है इतना मात्र है वही बन जाता है बनाने वाला भी वही है बनने वाला भी वो दूसरा कोई है ही नहीं स्वप्न में जो रथादि बनाया और जो बना मटेरियल भी वही है बनाने वाला भी वही आत्मा आत्मा से अतिरिक्त कोई है ही ना वहां तो ऐसे जागृत में भी क्या आपत्ति है उपादान के बिना कार्य हो सकता है विवरता है ये कहा ये कहा स्वप्न दृष्टा में देखा है न तत्र तथा प्रथयोगा हाँ। इत्यादि ना लोग हाँ, देखा है और लोग में भी देखा है कहते हैं लोग में भी लोग करते हैं काम कर रहे हैं यहां वेदांत में जाने के बाद ही झगड़ा करने लग जाते हैं यहां भी है माया भी आदि में देखा है जादूगर आदि में अपने स्वरूप को बिगाड़ता नहीं वो एक ही व्यक्ति आता अनेक हो जाता है तो अपने स्वरूप को बिगाड़े बिना वही व्यक्ति अपने को ही अनेक बनाता है क्या उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों एक ही होता है वो जादूगर आदि जो होते हैं माया भी लोक में भी ऐसा देखा है एक कहते हैं लोके भी देवादि से देवताओं में देखा है देवता एक ही है इंद्र देवता एक ही होता है अथवा जो भी देवता होंगे एक ही होंगे हाँ हवन आदि करेंगे कई जगह हवन होगा इंद्रायश वहां यहां भी बोला वहां भी बोला वहां भी कई जगह बोला हुआ होगा सब जगह पहुंचना होगा आहुति लेनी होगी तो क्या करते हैं एक ही व्यक्ति अनेक रूप बना लेते हैं स्वरूप बिगाड़े बिना देवादि में देखा है हाँ। इसी प्रकार मायावी आदि में भी देखा है जादूगर आदि में भी देखा है अपने स्वरूप को बिगाड़े बिना अनेक हो जाता है ऐसा स्वरूप अनुमान दे रहे विचित्र हस्ती अश्वादी सृष्टि दृश्य माया भी जो है ना जो भी सृष्टि करता है हाथी लाता नहीं वहां घोड़ा लाता नहीं है किंतु वही जो माया भी व्यक्ति है वही हाथी बन जाता है वही घोड़ा बन जाता है बनाने वाला भी वही बनने वाला भी है और फील्ड में दिखाने वाला व्यक्ति भी वही होता है अपने स्वरूप को बिगाड़ता भी नहीं देखा है तो जब सामान्य एक माया भी कर सकता है विवर्त उपाधान दोनों एक हो सकता है हाँ, तो क्या जगत का परमात्मा नहीं बन सकते विगत उपादान दोनों निमित्त उपादान कारण दोनों हो सकता है वो विवर्तवाद है वास्तव में माया भी कुछ बनता नहीं है दूसरे को ऐसा दिखाई पड़ता है विवर्तवाद ऐसा सारा विवर्तवाद है एक लोके भी देवादिशु मायाव्यादि मायावी आदिशु च स्वरूप अनुवर्त देव विचित्रा हस्ति अश्वादि श्रेष्ठ दृश्य उसी प्रकार तथा एकस्मिन ब्रह्मणी स्वरूप उनको अनुपमर्दे नहीं अनेकाकार सृष्टि भविष्य इसमें कोई विवाद नहीं ऐसे सामान्य माया भी, भी कर सकता हो सकता है तो परमात्मा में क्या है बता अच्छा आगे कहते हैं टीका में भाष्य अथवा परिहारांतरम अवतार परिहार दूसरे उत्तर देना चाहते हैं अभी तो दे रहे थे परमात्मा के बारे में बता रहे थे वही जगत के नाम रूप बीज है उसको लेकर के सृष्टि कर देता है अथवा वेदांत में कोई उपादान कारण मानने की आवश्यकता नहीं है केवल इसी पद अन्य तो आरम्भ शब्द आदि के सूत्र आदि से सिद्ध होता है कि सब विवर्तवाद है तो परमात्मा को कोई उपादान कारण नहीं चाहिए ऐसा उत्तर दिया अब आगे कहना चाहते हैं लौकिक दृष्टांत देकर के कहना चाहता अथवा यथा विज्ञानवान मायावी जो जानकार मायावी होगा मैं ऐसा रूप दिखाऊंगा दर्शकों को जो बनने वाला वस्तु के विषय में जानकारी होगी विज्ञानवान मायावी होगा विज्ञानवान मायावी निरुपादान उसके बाद उपादान कारण कुछ भी नहीं होता वो हाथी घोड़ा लेके नहीं आता जब जादू दिखाने आएगा दर्शकों के सामने हाथी घोड़ा आदि कुछ भी नहीं उपादान का अभाव है उसके बाद जो हाथी घोड़ा बनाने के साधन नहीं लाया उसने कुछ भी नहीं लाया अकेला वो व्यक्ति आया हुआ होता है विज्ञानवान जो माया भी होगा जादूगर होगा वह लोक में भी देखा निरुपादान निर्गतम उपादान व्यस्मात इसमें उपादान कारण कुछ भी नहीं अकेला आया हुआ है वो निमित्त कारण में वो व्यक्ति अकेला है वो भी आत्मान एवं आत्मांतरत्व अपने को ही एक ही शरीर है और दो शरीर दिखाई पड़ता है दर्शकों के सामने अपने को ही रूपांतर के द्वारा दूसरे शरीर बना करके आकाश में धारा में उड़ता घसीटा हुआ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है वो तो जादूगर ही बनाता है वो जो जाने वाला शरीर को मुख्य जादूगर तो यहाँ बैठा हुआ ही है ही है दूसरा जो बनाया उसी का स्वरूप है वो जो जा रहा है वही दिखता है जा रहा है धागा को पकड़ करके आकाश में जा रहा है ऐसा दिखाई पड़ता है तो निरुपादान विज्ञानवान जो माया भी निरुपादान आत्मा आत्मा मान कोई आत्मा ने शरीर है अपने को ही जो शरीर इसी को ही आत्मांतरत्व दूसरे रूपांतर के द्वारा दूसरा शरीर बनाकर यही शरीर को दूसरा शरीर दिखाएगा आकाश है ना गच्छंतम विवाह आकाश से जाता हुआ सा निर्पिपते ऐसा निर्माण कर देता है दर्शकों के सामने एक जादूगर यहाँ बैठा है दूसरा जादूगर आकाश मार्ग में जा रहा है चल करके जा रहा है आकाश में ऐसा दिखाई दिखाई पड़ता है ऐसा निर्माण कर देता है जादूगर वहां उपाधान कारण लाया नहीं था उसने कुछ भी अकेला था वो मटेरियल कुछ भी नहीं था जब जादूगर भी कर सकता है देखा है तथा अब सर्वज्ञ देव नहीं कर सकता है जगत सृष्टि क्या कहना है इसमें जब सामान्य जादूगर भी बिना उपादान कारण के कार्य कर सकता है तो परमात्मा को जगत बनाने में क्या मटेरियल की आवश्यकता है सब विवर्त है तथा सर्वज्ञो देव सामान्य विज्ञान दादी जो माया भी वो भी इतना काम कर सकता है तो ये देवता तो सर्वज्ञ देवता है आत्मदेव तो सर्वज्ञ है सर्वज्ञ देव सर्वशक्ति और सारी शक्ति उसमें है सर्वशक्ति वाला सर्वाशक्त यशमिन सा सर्वशक्ति सर्वज्ञ है और सर्वशक्ति वाला है कुछ भी चाहे कर सकता है महामाया ये छोटे से माया लेकर के चलने वाला भी एक शरीर से दूसरा शरीर बना करके आकाश में जाता हुआ दिखा दिखा पा रहा है छोटी माया इसके पास है तो, तो महामाया महामाया ऐसे सा महामाया बहुत अद्भुत घटना घटाने वाली माया है जिसके पास वो माया वाला है महामाया है वो महामाया में बहुगुरी समास है महामाया ऐसे सा महामाया आत्मान एवं आत्मांतरत्व जगत रूपेण निर्मित की युक्त तरह जब सामान्य व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है अपने को ही जगत रूप से बना सकता है कहने में कोई आपत्ति नहीं है ठीक है आत्मान एवं आत्मांतर जगत रूपेणा निर्मित आत्मांतर जगत रूप से निर्माण करता है अपने को ये कहना युक्त तर है अतिशय ठीक है एवं सकती कार्य कारण उभय असदवादादि पक्षाश न प्रसन्न शून्य से होगी इसलिए क्या होगा कुछ वादी है जगत में कारण असत है कार्य सत है ऐसा मानते हैं कुछ मानते हैं कार्य असत है कारण सत्य है मानने वाले हैं कुछ कार्य कारण उभय असत मानने वाले हैं ये सारे खंडित हो जाते हैं क्यों हमारे यहां इतना कहना हम ये कहना चाहते हैं कि सत एव सत आत्मा ही कार्यकाल उभय रूप में दिखाई पड़ता है आत्मा कार्यकाल उभय रूप में दिखाई पड़ता हम तो इतना कहते हैं न उसको कार्य को असत बोलते हैं न सत बोलते हैं अनिर्वचन है हमारे यहां आत्मा है सत आत्मा है कार्यकाल उभय रूप में दिखाई पड़ता है हम तो ये कहते हैं इसलिए कारण को सत मानने वाले या कार्य को सत मानने वाले कारण को असत मानने वाले कार्य को असत मानने वाले या उभय असत मानने वाले सब खंडित हो जाता है सारे मत खंडित हो जाएगा एक कहा ठीक है अथवा ठीक है आकाशे न गच्छम तम इव स्थितम आत्मांतरम सुरक्षा में विज्ञापन पर विज्ञानवान भी कहा था वो कितने जानने वाला माया भी है जादूगर कहते मैं रूपांतर से आकाश में जाता हुआ दिखाऊंगा इतना ज्ञान जानता है इतना करने को ज्ञान है उसको इतना जानने वाला माया ये विज्ञानवान का आकाश में गच्छंत स्थितम आत्मांतरम यहाँ रहता हुआ शरीर को आकाश से जाता हुआ सुरक्षा में ऐसा शरीर दिखाऊंगा सृष्टि करके इतना ज्ञान है उसके पास वो भी रूपांतर बना करके दर्शकों के सामने दिखा सकता है जब तो आत्मा जगत बनाने में क्या आपत्ति इतम तो विशेषण तो जो विशेषण विज्ञानवान जो विशेषण दिया है विज्ञानवान माया भी विज्ञानवान विशेषण दिया केवल माया भी नहीं बोला ये विशेषण क्यों ईक्षण से सृष्टित्व से सुक्ति आदव विवर्ते आदर्शनाथ कार्य से तत्तुल्य तद उन्होंने से अभिशंका विज्ञानवान क्यों कहा कहते देखो विवर्त भी दो प्रकार का विवर्त देखा पड़ता है एक जगह में विज्ञानवान नहीं होता जब सुक्ति में रजत दिखता है तो ज्ञान नहीं होता उसको मैं सुक्ति को रजत रूप से देखू ऐसा ज्ञान नहीं होता विज्ञानवान नहीं होता किंतु माया भी को ज्ञान है मैं रूपांतर से आकाश में हूं ऐसा ज्ञान है तो ये दो प्रकार के विवर्त होता है तो ये वहां कोई दृष्टांत रह जाए इसके लिए देखा इदम से विशेषण ये जो विशेष विज्ञानवान जो विशेषण दिया है एक क्षण से सृष्टित्व से ईक्षण करता और सृष्टि करता दोनों कैसा सुक्ति रज का आदौ विवर्ते आकर्षणार्थ सुक्ति रजत में मैं सुक्ति में चांदी की सृष्टि करूं ऐसा विचार भी नहीं करता चांदी की सृष्टि भी नहीं करता एकाएक हो जाता हूं क्षण भी नहीं है और सृष्टि भी नहीं है दोनों नहीं होता सुक्ति रजत आरोप विवर्त आदर्शनाथ न वहां ईक्षण देखा है न सृष्टित्व देखा है इसलिए कार्य से तत्व जो भी कार्य हो जगत में कार्य है जैसे सुक्ति रंजन जैसे कार्य है इसलिए यहां भी ईक्षण नहीं होना तद ओहम नशा ईक्षण भी नहीं होना चाहिए सृष्टित्व भी नहीं होना चाहिए विवर्तन तो फिर यार क्यों ईक्षण किया परमात्मा ने फिर क्यों सृष्टि करता है यह प्रश्न उठता था उस शंका के निराकरण के लिए कहा विज्ञानवान कहा सुक्ति रजत में विज्ञानवान नहीं होता वो हो। जानने वाला नहीं होता है कि मैं सुक्ति में रजत की सृष्टि करूं ऐसा ज्ञान नहीं उसके पूर्व और रजत की सृष्टि भी नहीं करता एकाएक हो जाता हो किंतु यहां पर विज्ञानवान माया भी जो होगा जानबूझ करके काम करता है ज्ञान है उसके पास सृष्टि भी करता है माना विवर्त दो प्रकार के एक ज्ञानपूर्वक विवर्त होता है एक अज्ञानपूर्वक विवर्त होता है सुक्ति रजत जो होता है अज्ञानपूर्वक विवर्त है वहां जिसको सुक्ति में रजत का ज्ञान होगा उस व्यक्ति को पहले यह नहीं होता कि भाई सुक्ति में रह जाएगा ज्ञान प्राप्त करो ऐसा शिक्षण भी नहीं करेगा सृष्टि भी नहीं करता एक हो जाता हो किंतु माया भी जो अपने रूपांतर बना करके आकाश को उड़ना है उसको दिखाना है वहां उसको पहले उसको बुद्धि में स्फूरित हो जाता है मैं ऐसा रूप बनाऊं ऐसा सोच करके बनाता है विवर्त दो प्रकार एक विज्ञान पूर्वक एक अभिज्ञान पूर्वक तो कोई अभिज्ञान पूर्वक जो विवर्त है उसको ले जा करके क्यों यहां पर ईक्षण किया परमात्मा ने क्यों सृष्टि किया ऐसा आरोप न लगाए इसके लिए कहा विज्ञानवान बोला ये कहा तनिराशस्व बाया विनिर्मित इति विवर्ते तद उभय दर्शना उसका निराश इसलिए हो जाता है माया विनिर्मित जो विवर्त होगा माने मायावी के द्वारा निर्मित विवर्त जो होगा जैसे मायावी दो रूप बना लेता है अपना रूप से अतिरिक्त रूप बना के आकाश होता है उसमें दोनों दिखाई पड़ता है क्या यक्षणत्व भी दिखाई पड़ता है सृष्टित्व भी दिखाई पड़ता है इसलिए यहां विज्ञानवान कहा ये कहा निरुपादान हाँ, माया भी निरूपादान है उसका में कोई फील्ड में कुछ लेके आ नहीं आता जादूगर जो आता अकेले आता है स्व व्यतिरिक्त उपादान रहेगा अपने से अतिरिक्त उपादान नहीं हो उसके पास स्वयं अकेला आया हुआ है कि रूपांतर बना करके आकाश में उड़ता हुआ दिखाई पड़ता है लोगों के सामने ऐसा भी बना देता है सर्वशक्तित्व हेतु महा वो परमात्मा सर्वशक्ति कहा था ना सर्वशक्ति वाला है क्या नहीं कर सकता है वो जब एक सामान्य विज्ञानवान भी इतना बड़ा काम करके दिखा सकता है तो परमात्मा वो तो सर्वशक्ति वाला है महामाया सहारा है उसके पास में वो क्या जगत क्यों उन्हें बनाएगा वो क्या है सर्वशक्ति तो हेतु तो महामाया कहा महामाया है इसलिए सर्वशक्तिमान है वो महामाया वाला है आत्मांतरत्व कहा था आत्मान आत्मांतरत्व वो जो माने जगत रूप से परमात्मा ही बनता है सृष्टि के पूर्व अकेला ही है वही जगत रूप में हो जाता है जैसे वहां माया भी रूपांतर में होता है वैसे परमात्मा रूपांतर में दिखाई पड़ता है आत्मांतर आत्मा भिन्नत्व अपने से भिन्न रूप से दिखाई पड़ेगा जगत काल में युक्त तरह माने ये ठीक है कई स्तृतियां इसमें चरितार्थ हो जाती है विवर्तवाद में माने वहां कोई उपादान कारण नहीं है अपने इसमें दृष्टांत मिल गया मायावी आदि का दृष्टांत है देवादि का दृष्टांत है तो कहते हैं युक्त तर कैसे इंद्रो माया भी पुरुरूप थे ऐसा आया है इंद्र माने परमात्मा माया के द्वारा पुरुरूप माने अनेक रूप दिखाई पड़ता है प्रतीत होता है माया के द्वारा अनेक रूप प्रतीत होता है परमात्मा का ये परमात्मा के रूप माया के द्वारा यह भिन्न रूप दिखाई पड़ रहे सारे इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते पुरुरूप नाना रूप ईयते माने प्रतीयते ऐसा प्रतीत होता है और माया ही अन्य दिव्य होती है और दूसरी सूची माया से भी अन्य जैसा होता है माया के कारण से ही अन्य जैसा होता है अज्ञान के कारण से भी अन्य व्यक्ति अन्य जैसा लगता है जैसे रज्जु सर्प जैसी लगती है रज्जु सर्प नहीं होती सर्प जैसी हो जाती है अज्ञान के वर्ष वैसे हम यह परमात्मा हमें दिख रहा है जगत माया में यह शक्ति है माया ही अन्य दीपक होती वो परमात्मा अन्य जैसा हो जगत जैसा हो रहा अभी अभी परमात्मा नहीं लग रहा है जगत लग रहा है तो माया अज्ञान के कारण आये आई अपने की और और बहुश्याम प्रजाए जाओ प्रकृष्ण जाए विशेष रूप में हो जाओ बहुत हो जाओ ये कहा है परमात्मा मैं एक हूं अनेक हो जाओ वाचारण अधिकारो ये कहा है सांगोग में कार्य वर्ग जो होता है वाणी का शब्द प्रयोग मात्र होता है वस्तु नहीं होता देखा है जिसको घट बोलते हैं वास्तव में मिट्टी है घटनाओं की वस्तु नहीं केवल प्रयोग शब्द प्रयोग हुआ घट नहीं थी चिंता नहीं कर सकता कोई वृत्ति का है और अपागात अभिनय अग्नित्वम कहा त्रिवेद का मंत्र की हम ये बताया है वहां तीन स्वरूप बताया था छांदोग्य में मतलब तेज जल पृथ्वी पृथ्वी को अन्य शब्द से बोला था उन्हें एक एक रूप दिखाया था तेज का रूप होता है लोहित लोहित रूप रक्त रूप और जल का रूप शुक्ल रूप है और पृथ्वी का कृष्ण रूप है ठीक है ये तीनों का मिश्रण होता है अग्नि में त्रिवेद का है सब वस्तु अग्नि में जल का अंश भी है तेज का अंश भी है पृथ्वी का अंश भी है तीनों अंश है उनमें से तीनों अंश यदि निकाल देंगे पृथ्वी का अंश कृष्ण रूप निकाल देंगे जल का अंश शुक्ल रूप निकाल देंगे और तेज का अंश निकाल देंगे लोहित रूप क्या बचे कुछ नहीं बचेगा अग्नि नाम की वस्तु ही नहीं बचना तीनों रूप का पुंज अग्नि था कारण को निकालेंगे तो कार्य नाम की कुछ विचार दृष्टि से कारण हटाएंगे तो कार्य नाम का वस्तु ही नहीं है अपाराध अग्नि अग्नि कौन कहा वो तीनों को हटाने के बाद अग्नि के अग्नि तो समाप्त फिर अग्नि कहना बनता नहीं इत्यादि बहुत श्रुति सम्मतत्व सारे विवर्तवाद में सारे श्रुति सम्मत हैं बहुत सारे श्रुति हैं विवर्तवाद में इसलिए जगत परमात्मा का विवर्त ही सिद्ध होता है ये कहा आगे एवं च सती आदि भाषण है एवं च सती कार्य कार्य कारण उभय असदवादादि पक्ष न प्रसजन इसलिए क्या होगा कार्य काल में जो कोई कारण को असत मानता है कोई कार्य को असत मानता है कोई दोनों को असत मानता है इत्यादि पक्ष हैं ये दोनों खंडित हो जाते हैं कैसे होंगे तो टीकाकार दिखाते हैं हम क्या हमारी मान्यता क्या है पहले रखते हैं वेदांति की मान्यता क्या है सत एवं जो सत आत्मा है सृष्टि के पूर्व में जो आत्मा है वही कार्य और कारण रूप में दिखाई पड़ता है कार्य रूप में वही दिखाई पड़ता है कारण रूप में है सत मिट्टी रूप में वही है घट रूप में वही दिखाई देता है सता एवं आत्मा जो सत आत्मा है त्रिकालाबादी सत आत्मा है कार्य कार्यकार रूपेण अवस्थान अंगीकार हम तो यही स्वीकार करते हैं हमारी यही है कार्यकाल भाव से वही है आत्मा ही है रूपांतर में दिखाई दे रहा है आत्मा रूपांतर में जितने भी कार्यकाल भाव जगत में है वो आत्मा ही है रूपांतर में दिख रहा है इसको हम न सत मानते ना असत मानते कार्यकाल आदि को अन्य नहीं मानते आप वहां है आत्मा क्योंकि प्रतीत हो रही है असत नहीं पार पा रहे हैं और गायब हो जाता है इसलिए सब नहीं कह सकते हैं असचेत न प्रतीयत सचेत न बाध्यता ये लोक में जो कार्यकार बोला जाता है है वहां आत्मा किंतु आत्मा के अज्ञान से एक कारण रूप में कार्य रूप में दिख रहे हैं वहां दिख रहे हैं तो उसको वो अनिर्वचनीय कोटि के हैं दोनों वो हम न सत मानते न असत मानते दोनों सत भी नहीं असत भी क्यों सचेत न प्रति न बाध्य तो बाध नहीं होना चाहिए बाध हो जाता है उसका जब अधिष्ठान दृष्टि में जाएंगे तो गायब हो जाएंगे असचेत न प्रति तो असत वस्तु की प्रतीति नहीं होती है कि मेरी प्रतीति हो रही है अभी जगत रूप में दिख रहा है इसलिए नहीं होता है तो इसको हम न सत मानते न असत मानते किंतु कुछ लोग कारण को सत मानते हैं कुछ लोग कार्य को सत मानते हैं कुछ कारण को असत मानते हैं कुछ कार्य को सब पक्ष खंडित हो जाता है ऐसा मानने से कहा सारे कल्पित है मानने से ठीक है स्वतः एवं आत्मा कार्य कार्य कारण रूपे अवस्थान अंगीकारात अस्माभि अंगीकारात हमने ऐसे स्वीकार किया है सत आत्मा में कार्यकार दोनों के दोनों ऐसा स्वीकार किया है आत्मा ही कार्य रूप में कार्य रूप में दिखाई पड़ता है ये स्वीकार करने से निर्हेतु का में कार्य उतरते यदृच्छावादी ना स्वभाववादी जो है ना वो है कारण नहीं होता अपने आप हो जाता ऐसा बोलते हैं कोई भी कार्य अपने आप होगा जो नेचरवादी है स्वभाववादी है समाज बहुत बड़ा है स्वभाववादी का कहना है स्वयं हो जाता है उसके लिए कारण की आवश्यकता नहीं बिना कारण का कार्य मानने वाले हैं स्वभाववादी तो ये भी खंडित हो जाता बोलते हैं निर्हेतु कर्म कारण होते थे यदृक्षावादी हम यदृक्षावादी में स्वभाववादी है ये और असदैव कार्य नैया नैयायिक आरंभवादी है उत्पत्ति के पहले कार्य नहीं होता है मिट्टी में घट नहीं है जो प्राग भाव को उन्होंने कारण माना हुआ है घट का प्राग भाव बैठा हुआ व्यक्ति तो असत से मानते हैं कार्य के ऊपर आरंभवादी हैं पहले से घट नहीं है वह मिट्टी में पहले से घट में मिट्टी हो मिट्टी में घट हो तो घट बनाने की जरूरत क्या है मिट्टी पे काम चलता है पानी भरते उसी में नहीं नहीं होता नहीं आएगा ऐसा बोलता है तो आरंभवादी है बाद में सत हो जाता है घट पहले असत रूप में था कारण को असत मानने वाले हैं बाद में सब विद्यमान हो जाता है सत हो जाता है पहले असत रूप में था क्योंकि प्राग अभाव भी तो अभाव को कारण माना हुआ है उन्होंने कार्य उत्पत्ति के लिए कारण माना अच्छा अभाव असत रूप में था तो असदेव कार्य को असत होता हुआ कार्य पैदा होता है कार्य बाद में सत हो जाएगा पूर्वस्था में असत है वो तो कारण असत हो गया इनके मतलब ये नैयायिका नैयायिकों का मत है उभयम असत्य तो शून्यवादी ना पक्ष बौद्ध मत जो शून्यवादी है कुछ भी नहीं है कल्पना है सारी कुछ भी नहीं कारण भी नहीं कार्य भी नहीं सर्वम शून्य दोनों असतवादी है वो शून्यवादी आदि शब्द है आदि से क्या लेना है सदैव कार्य में तपतिक सांख्या देना सांघे बोलते हैं कार्य सत है पहले से विद्यमान था मिट्टी में घट पहले से ही है वो कुमार के व्यावृत्ति से दिखाई पड़ता है जो मूर्ति पत्थर के भीतर मूर्ति पहले से होती है जो शिल्पकार क्या करता है मूर्ति में जो प्रतिबंधक थे उसको हटा देता है केवल उसको हटाया मूर्ति को बनाया नहीं मूर्ति नहीं बनाया हाँ। केवल ऊपर से जो पत्थर लगे थे उसको हटा देता है साफ कर देता है मूर्ति पहले से थी वह उनका शांत का ऐसा कहना है वादी है वो सदैव कार्य मुतदेह सत होता हुआ कार्य हो जाता है कार्य सत होता पहले विद्यमान होता हुआ उत्पन्न होता है अविद्यमान कार्य की उत्पत्ति नहीं मानते सांख्य इति दिना परिणाम पक्ष होता यह परिणाम पक्ष कहा अत्र पक्ष शब्द है ना तत्त पक्ष उक्त दोषा लक्षण या पक्ष शब्द कहा है पक्ष नहीं तत् उन पक्ष में आए हुए दोषों हमारे यहां नहीं ये दोष आने वाला नहीं हम तो एक विद्यमान सब परमात्मा सत है उसी में कार्य कारण कल्पित नहीं मानते हम कार्य को भी सत नहीं मानते कारण को भी सत नहीं मानते हमारे यहां तो अधिष्ठान परमात्मा सत है लोग में जो कार्य कारण भाव है दोनों मिथ्या है हमारे यहां ऐसा पक्ष है चलो समय हो गया फिर करेंगे ओम बांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो मे काची प्रतिष्ठिता आविरावीर्मयेगी वेदस्थ श्रुत मेना मे मा प्रभाषे अनेनाधीतेन होरात्रां सन्दधामि हितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि अवतु माम् अवतु भक्तारम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्ति